पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है वो काल के बंधन से छुड़वा देता है उसका क्या नाम है पूजा की विधि क्या है कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन और वो गृहस्थी भाई क्यों कृष्ण हुआ उसका आगे जाके तो सुखदेव नारद जी काग भूषण जी कहने लगे भाई इसी बूढ़ी दुर्गति हो जाएगी आप तो शीश निवाण की कोसो गधे की जूनी में जाओगे और मोगरे खाओगे ये तो जो क्या पिटास है नाम शर आज ना तक काल तो इतनी उसका रड़क बनी फिर अपने पिताजिया के पास आवे है वेद व्यासियों के पास सुखदेव कहने लगे महाराज जी ऐसे ऐसे सुना है के सुना है कि न्यू कह है कि गुरु के बिना बात नहीं बने नो बोला भाई कित की तो आया अग भी सुनो भगवान भी नो बोला नो बोला फिर भी क्या की बात देख रहा अड़जान तो के बताया उन्होंने उन्होंने बताया है कि जनक विदेही से गुरु नाम ले ले नो बोला गोड़ी हो और जाके पांव पकड़ बौड़ा और त्रिदा तो पीछा छूटा सहज में इतना बढ़िया गुरु मिला इस पृथ्वी पर आज के दिन जनक जैसा कोई संत नहीं है इवन सोची भाई सारे उन दकान तक तो जाना ही पड़ेगा तो वहां पहुंच करके जाकर बैठ गया जाकर बैठ गया महाराज जनक जी तो जाने थे सारी कहानी के किस उद्देश्य से आया तो कहने लागे आओ महाराज ऋषि जी आसन दे आसन पे नहीं बैठे तला बैठे क्यों पहला तो आसन चाया करता वहां जाकर के उस दिन आसन नहीं चाया तला बैठ गया और वो सारी बात समझ गया उनकी कि इसका मन में नूर न्यू बात से तो बोला सुखदेव जी बैठ जाओ योगी मैं स्नान कर लेता हूं फिर आपसे बात करूंगा अपनी जो दस हजार में से जो सबसे पटरानी थी वह रानी बुलाई रानी औरत वैसी बहुत नाजुक होश है और बहुत उसने कहा कि मैं स्नान करूंगा पानी लाओ से राजा जनक नारा से और वह उसकी पटरानी नहारी से और पानी जो उसमें से बह के बाहर आवे था नाली में सुखदेव का निशारा क्या ऋषि जी आइयो एक बार कहा जी कि आप तो बाल ब्रह्मचारी हो योगी हो आपने स्त्री का मुंह भी नहीं देखा मेरे दस हजार रानी से और न्यो कर बेटा इस आंगली दे देश पानी में जो मेरे नहाए पाछ नाली में जास इसमें गंदी नाली नाली में बह रहा है उसने कहते हैं उंगली नो करनी कोशिश करी ऊपर कर ली एकदम इतना गर्म पानी के नो कह जा अंगली दे दू तो मेरी सारा शरीर जल सकता है और फिर नो कह राजा विहिन से दे तारी आशा दरक भी देर बजावे अरे हमें स्नान करावे नारी मने एक औरत स्नान करवावे अरे तू नो कह मेरी हाथ चल जा उन तो तू बाल ब्रह्मचारी तो यहां हम आपको बंदी छोड़ महाराज की वाणी थोड़ी सी सुखदेव के ऊपर सुनाते हैं गरीबदास जी ने कितने रोचक ढंग से लिखा क्या बादी जोगी बादे करे बेचरा तीनू लोह के सतगुर जनक विदेही बिन भाई पावत नाही मोक्ष बादी के हैं बाद विवाद करनिया अहो अग्नि बन आया कहते हैं सुखदेव को तो मान घनेरा सुरपति काम लोब्ध दल घेरा सुखदेव कल्प वृक्ष की छाही जनक विदेही कर गुरु नाही अब सुखदेव तो अपने आप में सोच रहा था तेरा जितना कोई भी योगी नहीं और साधक नहीं और जनक विदेही कर गुरु नाही राजा जनक को गुरु नहीं बनावा था सुख जनक बड़ा अक सुखदेव जोगी दस सेंस राणी रस भोगी अब सुखदेव विचार करे है कि जनक बड़ा मैं बड़ा तो एक हजार रानियों को भोगता है सुखदेव बोले ज्ञान विवेक का हम स्त्री का मुंह भी ना देखा अब विचार कीजियो बंदी छोड़ कहां ला करके खड़े करते हैं अर्जुनों का है एक साथ दूतनों का लोग भी नहीं आन दिया लुगाइया ने लुगाई कोई पागल ना भूतनी ना खा जाएंगी है रोटी उनके हाथ की पोई हुई खावा कपड़े हुए धो दो सारा काम कर दो तो महाराज कहते हैं कि जब अपने अंतकरण में जगह बिल्कुल साफ हो जाएगी दूसरा बुरा नहीं लागे ना बुराई दिखे कहते सुखदेव बोले ज्ञान विवेक का हम स्त्री का मुख नहीं देखा हम हैं गर्भ युनि से न्यारा ज्ञान खड़क इंद्री पर हारा कैसे शीश नमाऊ जाई जनक विदेही राजा भाई कैसे नौकर शरण उसका आगे राजा जनक तो भाई राजा से गृहस्थी से पौंडरीक पौंडरीक नारद मुनि व्यासा ब्रह्मा विष्णु महेश उपासा आसन आदर अति अधिकारा सुखदेव सकल मही सिरदारा वैसे उनका सब आदर करते थे सुखदेव की क्योंकि पिछले तपस्वी था वो लेकिन मुक्ति गुरु बिन नहीं हो सकती चौदह भवन फिर पल माही सुखदेव सरवर दूजा नाही एक पलक में चौदह भवन मो को घूमे हुआ चौदह लोका में कह और सुखदेव कर बराबर ईसा तपस्वी ईसा योगी नहीं था जो कि इतना योग साधना कर रखे सुर तैतीस सौ सैस अठासी सुखदेव की सब करें खवासी तैतीस करोड़ देवता अठासी हजार ऋषि सब सुखदेव की यानी खवासी करें उसके पां पकड़े जब इंद्रपुरी में जावा था फिर कहते हैं वशिष्ठ मुनि वशिष्ठ विश्वामित्र ज्ञानी कागभूषण कहो परवानी वशिष्ठ और विश्वामित्र जी कागभूषण ते कहने लागे भाई न्यू बता सुखदेव बैठा दो रे अक गुरु बिन काम चल जाएगा कागभूषण ने बोला वह कति कुत्ते की जून में जाना होगा दो दिन की चौदह से कति नहीं पार पड़ा गुरु बिना एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था वो भी प्रमाण देंगे कि कागभूषण अपने आप बीती बतावे से कि गुरु बनाए पाछे भी किस तरह मर्यादा रखनी करो जी सुनो अब कागभूषण जी आप बीती भी बतावेंगे कि किस प्रकार भाई नाम ले पाछे भी कितनी सावधानी चाहिए महाराज गरीबदास जी कहते हैं जैसे माता गर्भ को राख जतन बना भाई ठेस लगे तो छन हो ऐसे भक्ति जा तो हमने नाम प्रथम का नाम नहीं लेना चाहते ले ले से तो फिर सावधानी नहीं बरत दे तो खंड हो जाता है वाशिष्ठ विश्वामित्र और कागभूषण जी से कहते हैं कि वाशिष्ठ विश्वामित्र ज्ञानी कागभूषण कहो परवानी ग्रीब कागभूषणी दान दर बहेज पद परवाहन आदिनी अधिकार बिना सुखदेव मूड अज्ञान ने बोले माथा माथा नहीं शिक्षा तो इस तप ने तेरे योग ने कौन चाटेगा वीरा अजाजील की कहानी आपने सुनी है कि उसने बहुत गणी आधीनी करते करते भी अहंकार खत्म नहीं हुआ और जो कति नहीं करते नमस्कार तो उनका कभी बेड़ा पार नहीं हो सकता भक्ति उनकी सफल नहीं हो सकती अब सनक सनंदन भी और नारद जी भी सुखदेव ने समझाओ से भाई देखिए नारद जी ने बोला रमन जी मर गुरु किया और मेरा के बिगड़ गया भाई चल तू नो है को राजा से पर राजा ने भी राव संत है और मैं भी नहीं हच क्या करता कि जीमर से वो पर जीमर नहीं था रे वो तो पूर्ण संत था इसी प्रकार तेरी गेल बन रही है फिर उसकी हिम्मत सी बने सर ग्रीब सनक सनंदन नारद भाई सुखदेव ज्ञान बहुत समझाही नारद को झिमर गुरु की न्या कहा ज्ञान में हो गया ही ना के तू इतनी अच्छा विचार मत राख नारद जी ने खुद एक झिमर को गुरु बना लिया था और मैं पंडित होते हुए नारद जी के मन भी बना बिरा कुछ नहीं बिगड़ता पांडा छूटे से जाकर नाम ले ले ग्रीव बोले ब्रह्मा विष्णु महेशा सुखदेव नहीं ज्ञान परवेशा खुद तीनों देवता भी तीनों के पास गए देखा उड़े तो छुट्टी मिल जा नो बोला फिर तने ज्ञान के लिया रही बताई तो, तो इस सिद्धि ने पाकर उड़ता फिर ऐसे बीरा इससे तो काम नहीं चले देखो विचार करियो इतने बड़े शब्द हो गए और उनका छुटकारा नहीं हुआ पूरे गुरु के नाम बिना बोले ब्रह्मा विष्णु महेशा सुखदेव नहीं ज्ञान वेशा चिन्या नहीं पुरुष अविनाशी सुखदेव गर्भ युनि के वासी जनक विदेही करो गुरु सोई गर्भ युनि तो ही जनक विदेही गर्भ से न्यारा सुखदेव गर्भ योनि अवतारा तप का तेज ज्ञान असवारा पाया नहीं मुक्ति का द्वारा चौदह भवन फिर पल माही उड़ा फिर पक्षी की नाई भाई ये जो है ना तप के तेज उड़ा फिर से तप के तेज ज्ञान असवारा और पावर नहीं नो मुक्ति का द्वारा यानी मुक्ति नहीं हो सकती बेटा बेशक घूम ले जैसे गंग अंग पर छारे है तुमरी मोक्ष जनक के द्वारे जिस प्रकार गंगा में नहाने तय अंग शरीर स्वस्थ हो स्वच्छ हो सकता है इसी प्रकार तेरी मुक्ति भाई राजा जनक से ग्रीब राजा योगी जनक है तीन लोक तत्सहारे मेहर करें सुख गुरुदेव जद सुख दे उतर पारे मान्या बचन कल्पना छाड़ी सुखदेव लगी लगन जद गाड़ी अब नो कहने लगे बस सारे नो बात कहे तो देखो फिर कच्चापन के रह गया नहीं फिर उसके लगन लागी तगड़ी के नाम ले लो भाई पीछा नहीं छूटेगा आम मान्य बचन कल्पना छाड़ी कल्पना जो हम अपने हिसाब से सेट हुए बैठे से इन तक काम नहीं चला भी रहा भाई मान्या बचन कल्पना छाड़ी सुखदेव लगी लगन जद गाड़ी सुखदेव छोड़ी मान बढ़ाई जनक विदेही किया गुरु जाई बोले जनक विदेही राजा इंद्री दमन करी किस काजा ये तने चल इंद्रिया साध भी ली तो बेटा के काम आया नाम बोया नहीं खेत बाग छोड़ दिया ए मेरे यार ब्रह्मानंद पद मिला न कोई तो पर, पर ब्रह्मानंद पद मिला न तो को ऐसे दर्शत है सब मोको ब्रह्म आनंद ब्रह्मानंद पद यानी असली तत्व तुझे प्राप्त नहीं हो लिया मन नो दिखा बिरा सुखदेव सुनो व्यास के पोता इंद्री लार लगी संजूता मन गुण, मन गुण इंद्री कर्म ना जाने हैं व्यास पुत्र तू ज्ञान दिवने हैं इंद्री कर्म लगाओ किसके जीव्या व्यालेप नहीं मधुरस के कितने गहरे उदाहरण के साथ बंदी छोट एक अक्षर में वे कितनी गहराई ले जाते हैं कि इंद्री काबू कर ली भाई आंख देखती है रूप को कान सुनते हैं राग को जीव स्वाद ले है और भी जैसे त्वचा जो हमें ज्ञान दे ये सारी तने साध भी ली तक के काम आगी न्यो बता दे अब जीव मजा ले से पर जीव का कोई निशान नहीं बनता जैसे सैद खा लिया सबसे मीठी चीज सैद हो से और सैद खा लिया दो सेकंड के पास देखेगा जीव का सैद गया नहीं पाओगा जीव तो निफ्राम हुई आगे काम शरीर का से यानी इसी प्रकार इन इंद्रियों को आपने काबू कर भी लिया तो इन के कर्म ला गया कर्म तक खणीय का लागेगा बीरा पाप पुन का बागी जीव से और जब तक आप नाम नहीं ले लोगे ये साधना तेरा क्यों काम आई तो कहते हैं इंद्री कर्म लगा वो किसके जीव्या लेप नहीं मधुरस के नैन पटल में ईश्वर भागा देख सकल रूप अनुरागा आख्यान आपने आंख इंद्री है इनको बंद भी कर लिया ये सारी चीज ने देखा पर आख्या में कुछ नहीं रंदा आज आगे भेज दे सागे तेरी मर्जी तो उसने स्वीकार करे कि ना करे नासा अगरी गंध सुगंधा आत्म रूप पड़ा गड़फंदा नासा अगरी नास जो है सुगंध ले ले हैं पर नाक का नहीं दी वो वो अंदर जो उसका शौकीन बैठा है उसको वहां तक भेज देती है श्रवण सुने बचन जो काना बैरा कहा कहे विधि नाना अब कहते हैं कान जो से सुनने के चस्का है इनको रस जो है शब्द का है और बैरा हो गया वो तो ना सुनता जो भाई खुसरा होता है बैरा हो तो वो भी क्या पार हो जाएंगे नहीं हो सकते जिसमें अंध मंद हो जाही ईश्वर पदम जो समाई आख्या देखो वे हो जा जब के कर ले भाई अपन सोते इंद्री सिद्धि है उनकी पर मुक्ति नहीं बेटा यो बंदी छोड़ बताओ श्रवण सुने बचन जो काना गुंग प्राणी कहन बाता जाके मुख रसना और गाता गुंगा जोश है मुंह तो बोल नहीं सकता जबान भी सर मुंह भी सर तो वो अपेंद्री सदरी उसकी सारी इंद्री की काना बहरा पाओगा गुंगा प्रथम तो इस प्रकार बंदी छोड़ महाराज उसको समझाते हैं कि नाम ले भाई कैसे ऐसा जैसे चंदन सर्प लिपटाई शीतल तन भया विसनी जाई ये साधना आपने ऐसी कर ली आपका मन खुश हो रहा है कि तुमने बहुत कुछ पा लिया जिस प्रकार सर्प चंदन के चारों तरफ लिपट जाते हैं गर्मिया में चंदन बहुत सीढ़ा होता है वृक्ष और वह न सोचे बस थारा जहर खत्म हो गया बहुत शांति होगी शांति नहीं हुई सीढ़ कोई है पर जहर जो का त्यू है अर्थात आप में मान बड़ाई ईर्षा राग द्वेष ज्यों का त्यों भरा पड़ा से हूं तेरे मन ने मान ली तो योगी हो गया और ऊपर बहुत दूर तक घूमे आवश्य तो यहाँ कहते हैं चंदन जैसे चंदन सरप लिपटाई शीतल तन भया विष नहीं जाई ऐसा योग कुमाया पूता कहा हुआ जो इंद्रिय धता के ईसा योग कमा लिया तो नहीं बताई का तेरा ये कमाई सब अगर इस पर नहीं कहते ऐसा जोग कमाया पुता जनक विदेह नो का बेटा यो काम किया तना इस और कहा हुआ जो इंद्री धूता के हो गया इंद्री साध लीता कहते सीप माही मोती मुक्ता हल बाहर खारा नीर हलाहल सर्वस्तुत अंदर लीनी सूक्ष्मीन को दीक्षा दीनी सूक्ष्मीन मिलता ना भाई स्वाति सीप सब ऐड़ी जाही हम जैसे कहते हैं समुद्र अपने भाव सागर में रहो संसार सागर में जिस प्रकार खारे समुद्र में मोती होती है सीप में सीप क्या करती है सिप्पी जैसे आपने देखी होगी शंख जैसा उसका ऊपर का सख्त हो जाता है सफेद होश है और कई रंग की हो जाती है उसके अंदर एक जीव होता है वो ऊपर ने मुंह खोलता है वह सीपी ऐसे खुल जाती है और उसमें खारा समुद्र की बूंद नहीं जान देती वह उसने बेरा इसमें मोती नहीं बन सकता ऊपर आकाश से जब बूंद पड़ती है स्वाति बोले से उसने उसने एक बूंद लेकर मुंह बंद कर लेती है और उल्टी गोता मार जाती है इसी प्रकार महाराज के गुरु का नाम लेकर आप भी संसार में रहो पर खारा पानी भीतर ना जान दो बीड़ी शराब मास तमाकू नंदा चुगली ये खारा पानी है रिश्वत और बाकी फिर आपके अंदर वह भक्ति बन जाएगी नाम से नाम लेकर अपना भक्ति लगे रहो तो सार वस्तु तो अंदर लीनी सुक्तमीन को दीक्षा दीनी जमीन मिलता ना भाई स्वाति सीब सब अड़े जाही जमीन की टक्कर लाग जब मोती सो है गड़धाग खारा नीर गंध हो जावे दो पुड़ खुले गुंज दवे अब बहुत गहराई की बात ले गए बंदी छोड़ यहाँ पर कहते हैं जैसे सीप में मोती भी बन गया और भाई ऊपर तवा बंद हो जाता मांस के टुकड़े से और नु कहते हैं जय उसको एक सुकचमीन और हो सब बहुत पतली सी मछली हो है बहुत पतली रागे तो पहना उसका मुंह उसे और वह एकदम नो मांस खान की खातर वो मांस खान की मैक उसमें जब आवा सर जब भीतर मोती पाक लेता है पूर्ण रूप से बन जाता है तो वह सुकचमीन उस मांस ने खान की खातर उसमें टक्कर मारने एकदम कूद कर जाती है और वो मोती खड़क देसी बाहर आ जाता है महाराज कहते वह सुख जमीन भी ना होती तो सीप और स्वाति दोनों ऐली जाए दोनों सड़ जाती खत्म हो जाती अब यहां कहते हैं सुख जमीन सतगुरु जल माही स्वाति सीप का मेल कराही ऐसे सतगुरु मिले जग्यासी ही जद पाव वो पद अविनाशी ही अब देख कहां तक ले गए बंदी छोड़ आपने नाम भी ले लिया और भजन भी कर रहे हो और जब तक सार नाम नहीं मिलेगा सार नाम समझ लो वो आपकी जो कमाई ने सतगुरु तो मिलान का से नहीं तो महाराज कहें ओम सोहम बाद विवादा ओम सोहम का मंत्र भी फेल है उस सार नाम के बिना उस प्रकार जिस प्रकार मोती भी बन गया सीप में परंतु सुख चमीन ना मिलता भाई तो स्वाति सीप ऐली जाही बेकार हो जाती खत्म हो जाती ओम सोम के जाप करणीय करा कितने के महाराज के कूतरू बिने फरे नामा छिपा ओम तारी पीछे सोवम भेद बेचारी सार शब्द पाया जद लोई आवागमन भरनी ओम नाम के जाप ते नाम देव छिपी ने इतनी कमाई कर ली थी मंदिर फेर दिया मरी हुई गऊ जवादीर भाई पत्थर तई दूध प्या दिया फिर भी कबीर साहब ने बोले बेटा इस तरह काम ना चल है जब बंदी छोड़ने उसको बताया कि एक और नाम से यू जप और उसके बाद फिर ने बोला सार शब्द और रह गए वो सार शब्द मतलब सार शब्द पाया जद लोई आवागमन फेर नहीं हुई ना ताड़े चक्कर इधर ऊपर लाद भी महाराज लिखा इस सो हम में थे ओ हम छोड़कर सो हम जप्या ध्रुव प्रहलाद ने क्योंकि ओम का जाप वो पहले जन्म में कर चुके थे जब उनका ईब जाकर के ईसा व्यंत हो गया था कि भक्ति में रुचि बने थी और फिर सोहम दिया और फिर नो सोहम के बाद भी एक सार नाम और मिलेगा बीरा जब मुक्ति का अधिकारी हो गया अब नाम बिला ले रहे सारे लिए रो इसी ओम सोहम का वर्णन गोरखनाथ जी ने जब किया है जबकि कबीर साहब ने नाम ले लिया न युवी सिद्धि में बहुत तगड़े थे कर सुना है ना अपना उनका शब्द ओहंकार के सोहंकार में ना सुना हो तो सुन लियो कैसा मेरा फिर आ रहा है गोरखनाथ जी बंगला बना बना दरवेश जा मैं नारायण प्रवेश फिर कह ओह सोह के ओह ओंकार के सोहंकार में और फिर आगे लंबा वर्णन शादी रखा तो इस प्रकार ये उन्होंने कबीर साहब से नाम लिया और फिर सार शब्द कहते चार युगा के योग को खाए जावे था काल सतगुरु शब्द सुनाइया जब टूटा जमजाल कबीर साहब ने बोले गोरखनाथ में सबका गुरुआ गोरखनाथ जी ने बोले तुमरा वचन मोह लाग करुआ आप झूठ बोलते हो बोले कड़ुआ लगे सो मीठा हुई अमरी बात पति जज विश्वास कर लेगा तो यू मीठा होगा ईब कड़ुआ लगे फिर कहें कबीर सतगुरु और गोरख चेला और फिर नौ खंड में रमे अकेला अग्नि बोले इब तो खूब ठाटते इब काल नहीं छेड़ेगा तुम ना टीटीवी दाब ले जाओ काल ने योगी बनावा से जैसे उसका वर्णन सुना था आपने राबिया का एक जन्म में छक्का कमाई करवा दी अगले जन्म में फिर और तीसरे जन्म में बांसुरी और चौथे जन्म में फिर वह वैश्या और पांच में फिर थोड़ा सा जन्म रहेगा बारह तेरह साल का पलड़की बना दी और फिर कुतिया का नंबर था बंदी छोड़ के शरण में आया वह वापस जिंदा करी और फिर उस आत्मा की मुक्ति करी इतने महान संत को इतनी पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष को छोड़कर आराम कहां जाकर फिरते हैं ये आप विचार कर लियो भाई तो ये आपने ज्ञान सुना अब सुखदेव कन्या बोले महाराज जी कुरंग मतंग पतंग कुरंग मतंग पतंग भरंग सरंगा इंद्री एक ठग्योतिस अंगा कुरंग कुरंग कह है मर्ग को और मतंग कह हाथी को पतंग कह है इसको ये दो पट बीजना कह लो जो कि दीवे के ऊपर जड़का मर जाता है उसको पतंगा पतंग कैसे उसने पट बीजना को कुरंग मतंग पतंग भरंग भरंग कह भौरे को और श्रृंगा कहते हैं मछली को कहते इन पांचवा में एक एक विकार था कुरंग में है कान में अच्छी स्वाद शब्द का रस होता है उसमें शब्द विकार है एक है मृग पकड़निया के एक रहेगा हिरण पकड़निया एक बहुत धुन न्यारी का डाकर अपने औजारों से एक धुन तैयार करता है जैसे बाद सारंगी वाला कराया कर न्यू मृग कहीं भी होगा आकर के उसके गोड्डा में सर दर देगा उस इतना वश है उस शब्द के और उसको पकड़ कर और मार कर उसकी या जो कुछ भी काटनी काट लेगा फिर कहे मतंग हाथी हाथी के अंदर काम वासना होती है भोग विलास करने की इतना मस्त हो जाता है एक हाथनी को सिखा दिया जाता है वो पाली हुई हाथनी होती है वो हाथी के दाग के चारों तरफ घूमती है अपना शरीर सप्रस करती है हाथी मस्त हो जाता है उसके पीछे भागता है आगे खड़ा तैयार कर रखा है उसे हाथी पकड़ने वाले ने ऊपर से ढक दिया जाता है घास फूस से दिखे नहीं अथनी वहां पर भाजी आती है सीधी उस खड़े के बेचाड़े और हाथी पीछे होता हुआ एकदम मुड़के उल्टी फिर उस किनारा काट जाती है हाथी ने सोचे से तो सीधा भाज का पकड़ ले इसने और वो उस खड्डे में घल जाता है और फिर वहां को दो तीन दिन भूखा रखा जाता है अंकुश ठोके जाते हैं फिर वो डिडा डिडा कर लंबा हो जाता है फिर उसको घर घर नचाया जाता है एक विकार के कारण हाथी जैसा भी वहां फंस गया फिर कहते हैं पतंग जैसे जुगनू जो होता है पटवीजना कहो कोई मत तो आकर के इसका ऊपर मच्छर कहो ये कई तरह के ऐसे प्राणी हैं जो कि आकर एकदम उस जोत के ऊपर धूप के ऊपर दीप के ऊपर दीवे के ऊपर जल जाते हैं उल्टे नहीं हटते क्यों क्योंकि उनमें ये बस की बात नहीं वो रूप पर आसक्त हो जाते हैं वो हट नहीं सकते मर सकते हैं तो फिर कहा भ्रंग भ्रंग कहते हैं भौरे को जो कि सुगंध नाश का बस होता है नाक का बस फूल पर बैठ जाएगा और फूल जो है सामने बंद हो जाता है और सुबह मरिया पाओ बेचारा क्योंकि वो उठ नहीं सकता इतना आनंद आता उसको फिर शरंगा मछली जो होती है उसका जवाब जीव का स्वाद होता है मछली पकड़निया एक कांटे का आटा लगा देगा और उसको डाल देता कांटे को वो खान खातर एकदम उसमें मुंह फंसा लेती है उसका चाल जा भीतर में और वो बाहर खींचता है आकर का दे ही पड़े से मर जाती है तो बंदी छोड़ से सुखदेव ने के कुरंग मतंग पतंग भरंग सरंगा इंद्री एक ठग्यो तिस अंगा उनका तो एक एक विकार था और वो भी पकड़े गए बेटा और तुम रे संग पांचों पर काशा ये योग युगत की झूठी आशा क्या राजी हो रहा करा कि तो कुत्याली मौत मरेगा क्यों विश्वामित्र शंकर भगवान भी नहीं काबू पा सके जिस काम देव पे और हम नौ कहे साधु बन गए होगी भाई महाराज के हम नाम देंगे उस नाम के प्रभाव से ये पांचों खत्म हो जाएंगे मुर्दा जाएंगे कति रू नहीं अब मुर्द खत्म नहीं होंगे ये पर निष्क्रिय हो जाएंगे जैसे आगे पहने छुआ आगे बहुत पहना है चुभने का उसने घिसा दे और आखिर में ठूंढ सा रह जाएगा वो सिद्ध नहीं गा बडारो तो इस प्रकार महाराज कहें ये वासना खत्म कति नहीं हो सकती पर इसी हो जाएंगी आपको दुखदाई नहीं हो सकती उस नाम में इतनी शक्ति है अब कहने लगे तुमने कहा था ना भाई तो दस हजार इंद्रिया का रस भोग गए औरतों का अब यहाँ बताते हैं कि नैन पटल में इस प्रकाशा चेरा सो देख मेरी नहीं मेरा सुन पोता सुखदेव बुजारी किसको कहो फिर पुरुष और नारी आड चाम तन खाल कलीती या सुख दे तुम माया जीती बंग से बिंदु बिंदु से देही चीन्या नाही शब्द ही जल में गगन गगन में जल है थल में डेर डेर में थल है तो ये लंबा विस्तार से हम आपको अब कहते हैं अगर फुलेल हमाम चढ़ाया राजा जनक नान कुहाया दस सेंस में जो पटराणी करे खवासी जल हर पानी दस हजार में जो पटराणी थी वह कनुआवस है जरे अंगीठी बरत नीचे राजा रानी पर मल सींचे उड़े आग बढ़वा ली अंगीठी और वो बड़े पानी और उसने राजा के कड़ पर गेर वह हनु आवे और सुखदेव हा आंगली देने बोले जल जाएगा मत है फिर बोला क्या का योगी बना फिर शिव में शक्ति शक्ति में शिव है एक में एक और नौ में नौ है अब यहां शिव में शक्ति और शक्ति में शिव है अब जैसे शिव कहते हैं शक्ति का नाम शिव है शिव तो निरंजन भी में भी है और ब्रह्मा में विष्णु में यानी सब नौ अवतारा में भी शिव थी शक्ति थी थोड़ी थोड़ी थी जितनी भी तो इस प्रकार महाराज ये बहु एक ही बात में उनके सारे इष्टों को भी समझा गए क्या राज्य हो रहा है नौ अवतारा में भी यही यही तक व्यवस्था अगर फुलेल हमाम आ, आओ गर्भ योगेश्वर जोगी हम राजा इंद्री रस भोगी आजा बेटा नो कई मत इंद्री रस भोगी हूं और जो है ना औरतें मेरे हैं जो तुमरी दे अगन जराई तो झूठा सुख दे जोग कमाई जय तेरा काया जल जाती है इस पानी से तो भाई झूठी साधना करी मलागरी रानी तन लावे मल्लागिर रानी तन लावे अगर फुलेल हमाम नवावे मल्लागिर कहते हैं चंदन को राजा रानी सरो शब्द सरोपा सुखदेव पड़े अंधगर रूपा जब फुलेल लगावे अंगरी हमरी दुर्जा काया सगरी न्यू अंगली आ चटा लिया जब फुले लगा वह अंगरी हमरी जर है काया सगरी राजा भी हंस दे जद तारी हमें स्नान करवा वह नारी तो बेटा कूद के पिटर मन्या नवाणदा अगली एक लड़की यानी औरत करे स्नान तकत पर आए सुखदेव ज्ञान परम गौराहे ना के राजा जनक तख्त पाए करे राजा पर तक ज्ञान गौराहे अकल अचिंत शब्द निर्म होई सुखदेव दरस भ्रम सब खोई सुत सिद्धि आनंद मन भाए एक समय योगेश्वर आए कहते हैं एक समय राजा जनक के पास वही नौ योगी आए थे जो गरीबदास जी दोहराए थे राजा जनक ने उनको एक नमस्कार कर दी ऐसे सबको प्रणाम कर दिया तो नौ नौ बोले हमें नारे नारे प्रणाम करो आपको किसने ज्ञान दे दिया इतना भी ज्ञान नहीं किया हर हर को प्रणाम करना चाहे नो बोला जी नो प्रणाम करती हणा दई उमरा शरीर छूट गया किस पर करवाओगे मैं मर गया तो कहते नौ योगेश्वरा हाँ, मुंह बंद हो गया अक्षण भंगुर है ये काया यहां कहते हैं एक समय स्वतः सिद्धि आनंद मन भाई एक समय योगेश्वर आए एक करी राजा पर नो योगेश्वर किया बियाना ग्रीब नो योगेश्वर नमन कह रे जनक नमाया सी से राजा बहु आनंद गन मिले जान जगदीश कोई भी संत आ जावे इतना आदर करे जैसे हमने भगवान मिल गया हो इतना उस नौ योगेश्वरों का आदर किया गरीबदास ने भी इतना ही किया जनक विदेही ने भी इतना ही किया कि जानू भगवान मिल गए परमात्मा आप हमारे घर में आगे संत तो फिर के बोले और नो योगी बोले सुनो राजा जनक विदेही नो प्रणाम करो हर से ही हर हरेक को हर से ही प्रत्येक को नो प्रणाम नरे नरे करो ये अक्षण भंगुर ये अक्षण भंगुर दे हमारी नो प्रणाम तो हो बारी राजा ने बोले यह अक्षण भंगुर हमारी काया से और नारी नारी करूंगा तो इतने खत्म होगी तबीरा तो फिर किस पर करवाओगे एक अमोघ करी परिणामा नौ योगेश्वर दीना ज्ञाना नौ योगेश्वरों को एक प्रणाम करके उनको ज्ञान दिया कि अक्षर भंगुर काया है और एक का परिणाम सबको स्वीकार्य होनी चाहिए दई चक्र में दई चक्र एक दारुण माया जा मैं सुखते भरम भुलाया सतगुण रजगुण तम गुण राजम तीन भुवन में पड़ा सुदाजम बोला रजगुण सतगुण ब्रह्मा रजगुण सतगुण विष्णु रजगुण ब्रह्मा और तमोगुण शंकर इन मोड़ जा रहेगा बेटा इतने नरक का बागी से काम क्रोध मद लोभ लगारम पांचों इंद्रिय धू धू धारम पच्चीसों प्रकृति प्रेवा भवसागर के सतगुरु खेवा सकल बडेरा मोह मवासी जाकी चेरी दुर्मत दासी आठ भाग हैं मन के भाई अष्टंगी माया कहलाही आशा तृष्णा नदी बहाई स्वर्ण मुनिजन गंधर्व नाई आशा शोक रोग बड़ भारी ही पाप पुण्य दोनों दरबारी ये तीन लोक में ये व्यवस्था है फिर कहे भाई आठ भाग हैं मन के भाई अष्टंगी माया कहलाई इंद्री पांच और तीन गुण का मेला सबसे ऊपर मन का खेला कहा पढ़ो भागवत और गीता मन जीता जिन तर भुन जीता मन जीते मैंने जूठा गाना चार वेद और अठारह प्राणा इस प्रकार बंदी छोड़ने कहा कि भाई नाम बिना बात नहीं बन दी और पूरे गुरु के बिना फिर सुखदेव राजा कागभूषण कागभूषण जी अपनी आप, आपम बीती सुनाते हैं आत्म बीती गरीबदास जी की वाणी में ध्यान से सुनिए पहले आपको कथा सुनाता हूं फिर उसके बाद जो कि तू महाराज की वाणी आपको पढ़कर सुनाऊंगा क्योंकि हमने ये ज्ञान हो जा कि तेनों सोचो सट्टे महाराज से हो अपनी वाणी गरीब दास्या की और इस वाणी ने कोई झूठ सिद्ध कर दे तो उसके लीतर मारा काग भूषण गरुड़ जी दोनों इकट्ठे हुए तो गरुड़ जी कहने लगे कि भाई कागभूषण आपका कौन पिता कौन माता नु बोला भाई कौन सी बताऊं असंख्य जन्म हो लिए मेरे तो कौन सी मां ने गणा और कौन से बाबू ने बताऊं नो बोला फिर भी कुछ बता तो भाई मंतानंद तो बात नो में नु बोला एक समय मैं जब 20 वर्ष का हुआ मेरे माता पिता मर गए और सारा कुंबा मर गया अकाल पड़ा था बहुत तगड़ा और खान पीन में कुछ नहीं रहा मैं उस घर ने गांव ने छोड़ के एक अवंतिका नगरी में चला गया वहां काल नहीं था वहां काल नहीं पड़ा हुआ था अंत वहां पेट भर खाया फिर नो विचार हो गया कि जब सारा कुणबा मर गया ही झूठा देश से भाई आप अना तो शादी करवा दे और भाई केवल भक्ति करके पीछा छुटवा पक्की जचगी के जब मात पिता कुणबा भरा भरा सारा चला गया मैं केड़ा किला तोड़ दूंगा ब्याह करवा भी लूंगा तो दस बालक हो भी गए पांच चार तो फिर उन गेला की बन सके हड़ कब भी इतना ज्ञान हुआ तो मैं जाकर के देखा कि एक मंदिर में कथा हुआ थी एक शिव जी का पुजारी पंडित जी था मैं वहां चला गया बड़ा आनंद आया बहुत मीठी स्वर में कथा करा था तो छह महीने मैंने उनकी वो कथा सुनी और नाम ले लिया नाम लिए पाछे एक दिन मेरे मन में भ्रम हो गया कि ये एक शिव पुराण मन सौबा पढ़ ली वही बात से गुरु जी के न्यारा जाने से उन घेसी पिटी बात ने सारी अना का उन रटे जा से उस समय हम भूल जाते हैं नो के रोटी वही खाते हम प्रतिदिन और जिस दिन वह रोटी अच्छी नहीं लगती समझ लो बेटा फिर बीमार हो लिया वही परमात्मा की कथा अगर रोजाना सुनने से भी आपको उग जाते हो तो बीमार हो लिए यानी कर्म की मार तगड़ी आपके ऊपर विद्यमान होली उसका कारण कि आपने भक्ति भजन में रुचि नहीं रही तो कहने लगे मैं एक दिन गुरु जी जब आए आरती करण मैं खड़ा नहीं हुआ बैठे बैठे नौकरियों देख लिया और गुरु जी अपना शिव मूर्ति का आरती करने लग गए वो तगड़े मतलब उनके ऊपर शिव जी भगवान पूर्ण रूप से प्रसन्न थे वो केवल मूर्ति पूजक नहीं थे इब कई भाई हमने भी कहते तुम भी मूर्ति पूजा करो सो मूर्ति टांग रहे सो दंडोत प्रणाम करते हो ग्रंथ साहब को ये पूजा नहीं सर भाई ये सम्मान है आदर है अपने अहंकार को नष्ट करने का एक साधन है पूजा के अंदर सारी चीज मिल जाती है आदर भी करो नाम भी जपो दान भी करो कथा भी करो भक्ति भी करो सुमरण भी करो ये सारी मिलाकर पूजा कहलाती है केवल न्यू नहीं है कि न्यू माथा टेक दिया फूल चढ़ा दिया पूजा होगी केवल उसको मना किया कि तुम तो मूर्ति के ऊपर और बस पानी चढ़ा के फ्रैम हो गए वो पूजा कहलाती तो वहां आकर के वो अपना एक रुचि बनाने खातिर श्रद्धा बनाने खातिर थोड़ी सी देर ये काम भी क्या करता है शिवलिंग बनाकर और उसके ऊपर वो पंडित जी फूल फाल चढ़ा के फिर बाकी समय भजन कराया करता बैठकर तो उसके ऊपर शिव जी बहुत प्रसन्न थे तो जब उसने देखा कि गुरु का आदर मन नहीं किया भगवान तक की इच्छा नहीं हम जिसा कर रहे चल गुरु ने तो ना भी पता चले उसी समय आकाशवाणी हुई रे दुष्ट आत्मा तने गुरु का आदर नहीं करा खड़ा होकर और तेरे मन में अहंकार आ गया चल एक लाख वर्ष के लिए और तू नरक में रखा जाएगा या आकाशवाणी गुरुजिया ने भी सुन ली आज जोड़ कहने बोले हे महाराज हे स्वामी जी बख्श दो बालक से बालक बोला से इसने जान नहीं थी अनजान से बख्श दो बख्श दो बोले रे खड़ा हो बेटा हाथ जोड़ दे तेरी माफी हो जाते काफी देर खड़े रहे कई जन खड़े रहे कई आरती करते रहे बहुत रोए गए पर कोई असर नहीं हुआ फिर एक दिन आकाशवाणी होती है कि मन जो वचन दे दिया उसने मैं वापस नहीं ले सकता ये हमारे बार से फिर खड़े रहे फिर काफी दिन भक्ति करी आखिर में फिर गुरु जी के ऊपर दया करके शंकर जी ने बोले भाई तेरे गुरु की कृपा ते इतनी राहत दे दूंगा लाख वर्ष रहना पड़ेगा प्रतन दुख नहीं होगा वह कष्ट कोई नहीं देंगे यम के दूत ये मैं अपना हुक्म वहां जारी कर दूंगा इस प्रकार कहते मेरी देही छूट गई फिर मैं स्वर्ग नरक बो गया परंतु दुख नहीं दिया ईसा दानु चार दिन में स्वर्ग को काटा फिर जाकर एक दिन फिर आंडी पाक गया जब फिर दोबारा मनुष्य जन्म मिला लोम में ऋषि कथा करें थे उड़ा जाकर सब तो आगे बैठा वो बेचारे अपनी सारी सरगुण निर्गुण दोनों समझा रहे जैसे हम बतावा हम हाँ, ए बी सी डी लेकर आके पी एच डी ती बतावा जो एक बार आओगा ना सत्संग मनो का तो सट्टे मारा है हाँ, तरली तरली बात बताओ हम हाँ, तो ऊपरली के अधिकारी सा तो आकर ने बोला मैंने बोला ऋषि जी बात सुन बोला हाँ भाई बोला ये सारी सुन रखी कथाएं को बोला भीतर की बात बता नो बोला भाई भीतर बाहर बिना भीतर कित होगा बीरा पहला नो तो सोच समझ ले हम कहा ले जाना चाहते हैं सरगुण बिना निर्गुण के गावे और निर्गुण पद नजरों नहीं आवे वो देख दिखा नहीं आपने उसने के दिखा उतरे थे पहला नीचे से लेकर चलूंगा फिर तू अभ्यास करिए मुता बोला ये हमने बहुत सड़ रखी है नो बोला गुस्सा होकर रोमेश ऋषि ने बोला रे ओ चंडाल बोल बोला बैठा रहे और ऋषि का मुंह तो चंडाल निकल गया तेने तो बोला मैंने चंडाल का तो घर मत जन्म लेना पड़ा ये श्राप दे दिया मुझे और ने बोला इतनी मेरा समझ में आ गई जब कि मेरे को चंडाल कहा गुरु ने फिर मागत नहीं बोला ऋषि ने <clears throat> मैं मुंह कर लिया तारी मर्जी महाराज कुछ भी को फिर प्रसन्न हो गए न बोला बद एक चंडाल तो बढ़ना है पड़ेगा पर भक्ति रह जाएगी फिर क्या हुआ गरीबदास जी की इस परमात्मा की वाणी ने कौन जान सके कहते हैं <clears throat> एक काग था चंडाल बहुत बदमाश और उसमें जो है ब्रह्मा की पत्नी जो ब्रह्माणीश है सावित्री इसके घर में एक हंसणी थी जब हंसणी नए नई होने को हुई ऋतु ऋतु पर आई उस हंसणी को लेकर जैसे वहां लेगी काग चंड के पास उससे महाराज काग चंड भोग विजोगम और फिर उससे उसकी उत्पत्ति हुई कागभूषण की ऊपर तो मुंह काग का बाकी शरीर देवता की सा मनुष्य जैसा देवता जैसा शरीर ऊपर तक काग का उससे उसकी उसकी उत्पत्ति बता इस बंदी छोड़ने उनके कति जड़ता ही लिख रखी है अब हम आपको कहानी सुनाते हैं कि फिर मेरे को कबीर साहब जोग जीत नाम तो आकर मिले बीरा जब मेरा पाछा छूटा अब बंदी छोड़कर तुम पहले क्यों ना आ जाते उस धनी के दरबार में क्यों इतने चक्कर काटो भाई उसके सच्चे सेवक के पास यानी उनके संत के पास नाम लेकर अपना सीधा काम बनवा लो तो यहां कहते हैं सुनो गुरुड़ ग्रीव संख कल्प जुग हो गए दामन मरण जिहान जन्म पुरबला तुझ कहूं सुनो खगेश सुजाहा ने खगेश या गुरुड़ जी को कहा संबोधित करते खगेश पक्षियों के राजा खग जमा में ईश यानी उनके मालिक खगेश <clears throat> तो कह काग कह भूषण सुनो खगेशा तो से भेद कहूं परवेशा संख कल्प जुग गए बिहाई पूर्व जन्म की कथा सुनाई नौका मेरा किरा कितने जन्म बीत गए थे हाँ ये यहां से शुरू करते हैं जय गरुड़ भूषण बियाना मोह से भेद कहो विधि नाना बचन सुशील दृष्ट अनुरागा देवता की दे द्वार मुख कागा के आपकी दे तह दो देवता के सी और मुंह से काग के सा बचन सुशील दृष्ट अनुरागा देवतन की दे द्वार मुख कागा कलंगी तीन सी सत्य साजय शब्द कुलाहल हरक निवाजय काग घुसंड के सिर के ऊपर तीन कलंगी हैं जैसे मुर्गे को होया करें और सफेद रंग की बहुत सुंदर है मधुकर बचन मधुकर बचन सुनत हो शांति ही कहो काग भूषण या की उत्पाती मधुकर मैन विलास बहो सुख सागर आनंद तावा सुरत लगाई ले सुनत कटे सब फंदे अब ये पूछते हैं कागभूषण जी परमा परम भेद कहो बहु भांति मिटे हमारे मन की काती कौन देश को नगर निदाना कहो भूषण आदि परवाना गरुड़ जी पूछे तेरा कौन बाप था कहाँ के रहने वाले हो कौन पिता को जननी जाम्या कौन कुली कौन वंश बखाना अवरण वरण कला परवेशा तुमरी महिमा कर है शेषा कागभूषण के बारे में खुद गुरुड़ जी ने कहे तेरी महिमा तो शेष नाग भी गावस है कि इतने महान संत हुए जल स्वरूप कुछ तरंग न तेजम इंद्री जीत चढ़े मन सेजम ब्रह्म निरूपण निर्गुण भेसा कहो भूषण आज संदेशा चंद्र का तेज सूर्य की किरणा जासे अधिका तुमरा वर्णा कौन कलागत रूप स्वरूपा तिमर मेट हो उजियारा धूपा अब यहां कहते हैं सुनो गुरुड़ मुर आद संदेशा बन बन वेद कहूं खगेसा शंख जन्म पूरब पै माला गए जो मिथ्या नहीं संभाला लोग मेरे शंखों जन्म जो पहले के थे भाई वो तब तो बीत गए थे वह मैं संभाल नहीं पाया गुरु से नाम नहीं मिला तो उनकी उपलब्धि मुझे नहीं हुई अवधपुरी एक नगरी निदाना जहाँ अवतार धरे मोरे पराना अवधपुरी में मेरा जन्म हुआ बीस वर्ष की उम्र पनीता मात पिता बैकाल सनीपा जब मेरी बीस वर्ष की उम्र होली जब मेरे माता पिता मर जाते हैं कैसे मरते हैं पड़ा काल दुर्भिक्ष तहा पृथ्वी डोल गई रे भाई एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा दुर्भिक्ष बोल रहे हैं अकाल को पृथ्वी डोल गई रे भाई पड़ा काल दुर्भिक्ष अपारा मनुष्य मनुष्य का करे आहारा आदमी ने आदमी खान लाग गया इतना कसूता काल पड़ गया था अन का नहीं आहार प्राणी पड़ा काल दुर्भक्ष अमानी अवधपुरी हम तजी खगे ताई समय गए मालू देसा मालू देश में गए अवधपुरी को छोड़कर पुरी अवंती लीना बासा तावा अन की नहीं तरासा अवंत का पुरी में चले गई वहां अन्न की कमी नहीं थी अन तो जहां पेट भर खाया कहे भूषण सुनो खगराया कि वहां हमने रोटी पेट तर अंत तो रोटी भर पेट भर के खा ये भूषण जी सुनो भूषण जी कहते हैं खगराया यानी हे खगेश पक्षियों के राजा सुनो पंडित एक अवंती माही कथा करण शिव द्वार जाही छठ मास छह मास हम संगति की नी बोरतास की दीक्षा लेनी टहल कर टहल करत तिस पंडित केरी गुरु चेले का भाव घनेरी मन घूब सेवा बिक्री करी पर आखिर में मन में अरे कुदरती बात से साल दो साल हमें पाछे न्यू लाग जा लागण तो गुरु जी मेरा रुए चार बात जान है तो गधे बनोगे कुत्ते बनोगे वो कह जा सारे आखिर मन होगा क्यों ले रहा होगा कदे उन्हें बंटरा रखा हो तो हम हाँ महाराज कहें जैसी लागी आदि में ऐसी लग जा निम जा ओढ़ अपनी तस्मशानी अंस्तार ले करोड़ तो इसी प्रकार ये इसका क्रम बिगड़ा पंडित एक अवन टहल करत तिस पंडित केरी नुके पहले तो मैं गुरु की बहुत सेवा कराया करता और गुरु चेले का भाव घनेरी मारा बहुत आपस में प्रेम था फिर कहे स्वामी कर्ण गए स्नाना पूजा अर्पण धूप ध्याना शिव पूजा पंडित अर्था बेल पत्र धर लिंग वे गृह शिव पूजा पंडित कर जाम लिया निवास गुरु दीक्षा शिक्षा मन में करी ही मिटी खगेश पिया से तन मन अर्प फेर माला जाके ऊपर ईश दयाला ईश भगवान शंकर अपने उस पुजारी यानी पंडित जी का ऊपर बहुत दयालु था आ, हाँ, तन मन अर्प फेर पूर्ण रूप से आश्रित होकर वो पूजा कर रहा था शिव जी की पंडित जी तन मन अर्प फेर माला जाके ऊपर ईस दयाला पूजा करण देवालय आए जहां हम बैठे दर्शन पाए एक दिन पूजा करण खातिर आया ना मंदिर में मैंने बैठे बैठे दर्शन पा लिए दर्शन कर लिए उठ कर नमस्कार नहीं करी सत साहब ने की चरण नहीं लिए जहां शिव को मोह दिया सरापा लाख वर्ष तुम जमपुरी राख्या शिव जी ने मुझे श्राप दे दिया एक लाख वर्ष तक तुझे काल के पूर्व में का यानी जम लोक में रखा जाएगा नरक में पंडित सुना बचन शिव केरा ऊठ चरण लेना गुरु केरा ये गुरु जी ने बात सुन ली और चरण दिए स्वामी उनके शिव जी महाराज के लिंग के आगे खड़े होकर पंडित शिव का ध्यान लगाया कल्प करी बालक बोराया रे बा, रे धर बालक तू शिव का ध्यान तात बक्से तो रे पराणा मैंने ने बोला बेटा महाराज का गा जोड़ ले कि मैं तेने बख्श दे तू मैं भी करूंगा अर्थ बहुर दरा पंडित तब ध्याना बख्शो साहेब या के पराना सेंस वर्ष ददनी का ठीको हो वाणी अरस बही शिवनी का काफी वर्ष तक खड़े रहे जब आखिर में आवाज हुई बहुर महादेव भये दयाला जमका लो हाँ सेंस वर्ष वाणी अरस बही शिवनी का बहुर महादेव बहे दयाला जमका लोग भोगते तत्काला अमर लाग्या संसा शोका छूट छूटी दे गए जमके लोका चंद्र रोज तत्कालम आए शिव की दया गुरु अर्थाए जम हमको नहीं दीन तरासा भुगत्या नहीं नरक निवासा शिव स्वामी की दया अपारा फिर हम आन लिया अवतारा यानी कुछ दिना के बाद वो इसे गए चार दिन यानी चंद रोज के समान एक लाख चले गए दिन वर्ष और कहते हैं शिव जी की कृपा यानी गुरु की कृपा से हुई गरीब जन्म धरा तत्काल जब छूट गई मम देह गुरु शिव साहेब दया से हो गए निरसंदेह जोग ध्यान और नाम नरेसा जब तब करनी मिटे अंदेशा प्राणाम किया परनामा स्वर्गपुरी को चली विमाना लोम श्री जा कथा कराई जा हम पर संग पूछा आई नौका उड़ा जाकर फिर एक बद कुमा ली उड़ा लो ऋषि से जाकर स्वर्ग में अर्जा फिर प्रश्न किया सरगुण कथा होत तिस बारी हम तो निर्गुण के अधिकारी सरगुण अर्थ हम गोहरावो हो लोम ऋषि पर सरगुण अर्थ हमो गौराया लोम ऋषि पर संग बतलाया भोर संबोध किया तिस बेरा बैठ जा, बैठे जाए निकट हम नेरा गणा ज्ञानी होगा ना आज्ञा ना आकर गुरु तो संत तो रह और फिर नो कहेगा नो सर नो देखा तो नो कह पहले तो दूर तो प्रश्न किया था फिर और कति दोहरा जा बैठा आगे बौर संबोध संबोध कहे आपस में संवाद किया तिसके बेरा जा बैठे हम निकट हम नेरा सरगुण कथा बिना के गावे है निर्गुण पद नजरों नहीं आवे जदवा बोले काग बुसुंडा दर्शा अद्भुत रूप अखंडा सरगुण सकल नाश हो जाई निर्गुण सुधो रहो लो लाई अब देखो काकभूषण ने बोला मैं इतना अंडी पा गया लोमस ऋषि ने बोला सरगुण तो नष्ट हो जाएगा सब वो निर्गुण में लो ला बेटा भाई नरगुण में लो लगा संत जी अब ऋषि ने बोला देख यू मन ना आगे बताने लागे नो हम जाकर के संत की बात सुने बिना अपनी गान लग जाते हैं वह कमजोरी में होते हैं सरगुण अर्थ हम सरगुण कथा बिना सरगुण सकल नाश हो जाई निर्गुण सदा रहो लोलाई लो मृषि पर संग विस्तारी सुनो गरुड़िया आज कथा हमारी बहुर कहा सरगुण पर संगा शिव की जटा रहे जो गंगा अब यहाँ बताते हैं कि तप कर भागीरथ भागीरथ लाहेती हूँ लोक कीर्ति दर्शाए गुप्त वस्तु पर गट दिखलाई निर्गुण सरगुण समझो भाई कि जैसे गंगा पहले थी नहीं यहां पर और ये थी ऊपर शिव की जटा कुंडली धाम में शिव की जटा में जटा में बाड़ा में नहीं थी एक सरोवर है ऊपर जिसको जटा कुंडली कहते हैं और नौके तप कर कर भागीरथ लाई सब निर्गुण से सरगुण कर दी उसने जो हमने ना दिख दिया हम उसने निर्गुण मान रहे निराकार से कहन कहन की और के वाह गंगा ला दिया तीनों लोका में इसकी पूरी महिमा हो रही थी तप कर बहुर कहा गरुण सरगुण पर संगा शिव की जटा रहे जो गंगा तप कर कह रथ लाए तिहू लोक कीर्ति दर्शाही गुप्त वर्षो वस्तु पर गट दिखलाई नु निर्गुण सरगुण समझो भाई वृक्ष बीज में है सब ठोरा जब उग तब विधि खेवरा जैसे बीज में पेड़ होता है पर उग लेगा जब दिखेगा कि सच्चे पेड़ से तो वो निर्गुण है उसके अंदर भी है पर दीखता नहीं तो जो पैदा उसमें बो दिया जाएगा तो वृक्ष बन जाता है अब फिर वो उगे पाछा के होगा भाई डाल पान सब नजरों आया पंछी के लुकरत है छाया डाल पाते सब नजर आए और पक्षी उसको ऊपर किलोल करते हैं छाया होती है पक्षी को पंथी को ग्रीब जैसे पक्षी वृक्ष में है केल करत दिन रहन समाधान में सृष्टि है बास लिया सुख चेहन फल पंछी नर करे आहारा या लीला सरगुण विस्तारा सरगुण भोग किए भगवाना ये विधि विल से संत सुजाना तो इतना महाराज ने गहराई से उसको समझाने के तो फिर क्या हुआ लोमस ऋषि सुना प्रसंग सुनाया दम बिन संख आवाज न राया संख शरीर पवन से गूंज आत्म ज्ञानी पद को बूझ जैसे शंख है खडारो हवा तो बाजेगा इसी प्रकार ये शरीर इस पवन से चल रहा है हवा से चल रहा है इसके बिना इस सरगुण की कोई काव्याम भी नहीं है देख लियो भाई कितनी देर है कितनी आ हाँ, सद सरगुण बिना न निर्गुण कामा निर्गुण बिना न सरगुण धामा बर्तन बिना वस्तु कहाँ पावे है वस्तु हो तो बर्तन आवे है इब जैसे कोई चीज बनी तो उसका समाधान यानी सरगुण भी बना बर्तन हो गया वस्तु थी तो बर्तन तैयार करना पड़ा इसी प्रकार बर्तन अंग बर्तन दे ही अंग शरीरा वस्तु नाम है सुरत गंभीरा मंदिर बिना मंदिर बिना दीपक किसका जाहा दीपक हो तो मंदिर सा जाहा पुरुष बिना नारी किसका मां नार बेहू ना पुरुष अलामा अब दोनों अल्ले हैं कि बिना पुरुष के नारी का कोई लाभ नहीं अरनो के बिना नार का पुरुष किसी काम नहीं बंदी छोट इस प्रकार समझा सरगुण मंदल ताल आवाजा पवन प्रेर निर्गुण राजा जो मोर जीवन नग को लावे लोहा कुंडल तड़स बनावे है गरीब कह लो मत सुनो कह लो मस ऋषि सुनो भूसंडा जीवन पुष्ट होत बिन अंडा अब जैसे अंडा देती है ना मुर्गी या कोई देख लो क्योंकि उस अंडे के बिना उसमें जीव नहीं बन सकता अंडा है तो उसमें जीव बनेगा ऐसा सुथरा अंडा फिर किसी काम नहीं पर अंडे बिना वह वस्तु नहीं बन पाई कितना सुंदर पक्षी बन गया इसी प्रकार पहले हम सरगुण समझावागे आपको फिर निर्गुण की तरफ लेकर चलाएंगे कैलो मस सुनो काग बुसुंडा जीवन पुष्ट होत बिन अंडा वो जीव उस अंडे बिना नहीं बन सकता पुष्ट नहीं हो सकता यानी प्रफुल्लित नहीं हो सकता बाहर नहीं बन नहीं सकता अंडा बिना अंड अंड बिना तो पिंड ना हो पिंड अंड का साक्षी सोई हमने समझा ज्ञान खगेशा दिया शराब हुआ परवेशा मेरे ने बोला समझ मत आई नहीं मैंने बोला यो अभी क्यों मैं बताई आपने तो बोला बचन कहा तब ही चंडाला कागा का मुख भया दयाला जब ही काग यानी चंडाल कह दिया मेरे को रे चंडाल तो नहीं समझा फिर कागा यानी मेरा मुख दयाल हो गया आगे तो बोलिया नहीं मैं मुंह चकड़ा लिया थारी मर्जी महाराज कुछ भी कह दे अगर और बोलो तो मन माना और बेक और दे दो फीत मेरे ताई करा की धक्के खाऊ तो कहते इतना ज्ञान हो चुका था संता आगे अड़े नहीं आकड़े नहीं ज्ञान समझ में आओ ठीक से ना अपना गोली हो अच्छा तो अपना आप अपना राजी सच्चाई में हम अपना राजी तो यहाँ कर दिया शराप जुगा जुग केरा गुरुड़ देव आनंद मन मेरा शराप दिया पर मन खुशी हुई दुख नहीं हुआ तामस क्रोध नहीं हम कीन्या जब लोम श्री दीक्षा दीन्या फिर भी हमने क्रोध नहीं किया तो फिर वो जान गया कि भाई सहनशील तो से जब लोम ऋषि ने मेरे को दीक्षा दी कि कहा कि दिया शराब जब लोग में श्री ज्ञान सुनाया सुनत ज्ञान चंडाल कहाया जब तब करनी कीर्ति सारा सुनो भूषण मेरे प्राण अधारा कूट ईशान करो पर हारा काग चंड कह लो अवतारा नुबल जाकर वहां काग चंड नाम के काग का पैदा होगा श्यावत्री ब्रह्मा की दासी ही पुत्री सेती ज्ञान विलासी श्यावत्री ब्रह्मा की पत्नी ब्रह्माणी हंस हंसनी पिड़वाई कागचंद के द्वार आई ब्रह्माणी यानी सावित्री उस हंसनी को लेकर और कागचंद के पास नए दूध करवाने लाई ऋतुवंती हंसनी का पिंडा भोग संजोग किया है चंडा ब्रह्मलोक लीना अवतारा कुटिल रूप हंसों की मारा माता जाय किया गुण सारा ब्रह्माणी लग गई पुकारा ब्रह्माणी जद कल्प कराई धरो जान पद में लोलाही फिर कहते हैं ग्रीब अक्षण में पद पर वाने है सत्रह भरताली ही ने रहे खगेसा एक हम सुख सागर जो ने अब ये बताते हैं कि अब मैंने जो गुरु पूर्ण गुरु सत्पुरुष से नाम लेने के बाद मेरी ऐसी मुक्ति हुई कि सभी ये ब्रह्मंड खत्म हो जाते हैं परंतु मेरे को एक लोक ऐसा दे रखा कबीर साहब ने कि वहां वो नष्ट नहीं होते मेरे आज्ञानियों कह रहा कितने ब्रह्म और विष्णु मर कर जा लिए ये कहते हैं जल कर है पृथ्वी श्रृंगारा अग्नि करत है जल परहारा मरुत करत है अग्नि समोदम पवन तत्व मद गगन विनोदम अब देख कितनी गहराई में ले गए बंदी छड़ कितने सुथरे शब्द कितने गहरे अरिंदो कहीं दान थे कि जल कर है पृथ्वी सिंघारा नष्ट कर देगा जल पृथ्वी को अग्नि करत है जल प्रहारा आग जो से उस जल न खींच लेगी अग्नि और मरुत कहे अग्नि को मरुत कर है हाँ, मरुत कहे वायु को मारुत मारुत जो है वायु जो है अग्नि को अपने अंदर समा लेगी और पवन तत्व मद गगन विनोदम फिर वो पवन जो है आकाश में समा जाएगा पांच तत्व तिनी तत्त मेला ने सवाल गुरु ना चेला जद हम का जद हम गरुड़ रहे गलता ना पद्म पद्म पद से भिन्न नहीं मोहे पराणा अब क्या होता है जिस समय महाप्रलय होती है कबीर साहब के शिष्य उसी रूप में होकर के वहां रह जाते हैं और एक लोक है सतगुरु महाराज का ओट का दिया उस पर प्रलय असर नहीं करती तो इस प्रकार सतगुरु महाराज ने इसने लिखा है कि मेरे सामने बिरना कितने ब्रह्मा विष्णु होकर जा लिए ग्रीव दूर देश आनंद पद अनमिल मिलन हमेश ब्रह्मादि खोजत हैं दाव शंकर शेष तो इस प्रकार बंदी छोड़ की बाणी बहुत गहराई में है अच्छा ईद थोड़ा सा आपको वर्ण देते हैं कि कल परसों चौथा हमने आपको बताई थी कि ब्रह्मा जी के अंदर क्या कमजोरी आई थी वो गरीबदास जी की वाणी थोड़ा सा प्रमाण देंगे जाता नहीं आपको बताया था कि हम तीनों परमात्माओं को संपूर्ण पूर्ण शक्तिशाली समझते हैं बंदी छोड़ कहते हैं कि उनमें ये कमियां आई हैं तो वो पूर्ण पूर्ण पर परमात्मा नहीं थे एक समय शावत्री सरस्वती जो है ब्रह्मा की पुत्री अपने पति के लिए ढूंढने के लिए उसको ज्ञान हुआ कि पति की आवश्यकता जरूर होती है पत्नी को तो वहां पहुंच जाती है जहां ब्रह्मा देवताओं को ज्ञान सुनाव था एक समय पुत्री पी प्यासा सो तो गई पुरुष की आशा बोध भोग संयोग पर उस परवाना सुना सरस्वती आत्मज्ञाना फूल माल और हार श्रृंगारा गई सरस्वती ब्रह्म दरबारा ब्रह्मा के दरबार में गई फूल हार श्रृंगार पूरी सारी तरह तैयार अपना श्रृंगार करके आगे ब्रह्मा आज अनादम ज्ञान ध्यान और कथा संवादम बड़े ज्ञान और ध्यान की संवाद यानी बातें बता रहा था देवताओं को ओही ब्रह्मा जिन दर्श दिखाया वो ब्रह्मा घेरा जोग माया <clears throat> स्वर्ण मुनिजन गंधर्व ज्ञानी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दानी इंद्र कुबेर वरुण धर्मराया किया विचूतर विचित्र चरित्र जोग जुमाया ऐसे माया जोगे है चित्रकृत कर देते सनक सनंदन या उज्जवल मूर्ति हित मारकंडे लोम श्री शिवाना काग भूषण नारद परवीना वशिष्ठ विश्वा और दुर्वासा पारा सर्प पिपलादिक दासा सनक सनंदन संत कुमारा बैठे मजलिस बीच मंझारा कहते हैं उस मजलिस में जब वो ज्ञान कर रहा था ब्रह्मा विष्णु जी भी शंकर जी भी और ये पिपलादिक ऋषि भी और सब भूषण भी नौका मैं भी उड़े था वशिष्ठ विश्वा और दुर्वासा वशिष्ठ विश्वामित्र दुर्वासा पारासर पिपलादिक ये सब वहां बैठे सनक सनंदन संत कुमार ये चारों भाई भी बैठे मजलिस बीच मझारा बना सरस्वती कमल शरीरा ब्रह्मा का मन डल क्या नीरा ब्रह्मा का मन चंचल हो गया दुष्टता आ ब्रह्मा बात भरी मुस्काई शिव को तो क्षर थाप लगाई ब्रह्मा जी अपनी पुत्री की कोली भर के और मुस्कान लगा जब शिव जी ने उसके सिर पर थाप मारी कि शरीर ने छोड़ दे दुष्ट आत्मा और तू नष्ट हो जाएगा फिर दोबारा पैदा हो जाएगा तू निकल जाए यहां से तो कहते हैं जब उसने शरीर त्याग दिया और दोबारा नाभि के कम विष्णु की नाभि में फिर वही आत्मा ब्रह्मा की ब्रह्मा बनकाई तो महाराज ने कहा इसे इसे काम इन परमात्मा गेल हुए और तम इनको भगवान समझ बैठे ये मतलब वरना फिर ये भी नहीं कह सकते कि इनमें कोई शक्ति नहीं है पर पूर्ण नहीं है अब हम आपको अपने बंदी छोड़ अब आपने जैसे सुना था ना शब्द के गुरु विहीनी बाता हर को गुरु विहीनी बाता थोड़ी सी महिमा इसकी और सुना देते हैं खोल करके फिर एक शब्द और सुनाएंगे जिसमें सतगुरु गरीबदास जी के बारे में आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी अब सुखदेव के बारे में जानकारी हुई कि उन्हें भी गुरु बिना नहीं सरा फिर कहते हैं कृष्ण जी ने भी दुर्वासा जी को गुरु बनाया और संदीपनी जो आप समझते हो उनके गुरु थे वो तो जैसे आध्यात्मिक गुरु नहीं थे वो व्यवसायिक गुरु थे जैसे एक हेडमास्टर भी गुरु हो सके पर उस तो वो व्यवसाय का गुरु है लेकिन जो अध्यात्मिक गुरु कुछ और होते हैं तो संदीपनी उनको ज्ञान के गुरु थे उनको पढ़ाया करते थे और दुर्वासा उनके अध्यात्मिक गुरु थे ये मदनी छोड़ महाराज की वाणी बताओ तो मीराबाई ने भी जो है जब ने कृष्ण जैसे ने भगवान ने भी गुरु बनाना पड़ा तीन लोग के मालिक ने तो हम कौन से खेत की मूड़ी रहे बिना गुरु चले जा तो फिर मीराबाई भी देखो जहर भी पी गई थी और और भी बहुत से सांप भेजा था नौलखा हार बन गया था पर मुक्ति नहीं थी एक दिन उन्होंने सत्संग सुना जब उसको ज्ञान हुआ खुद कृष्ण जी ने उसको प्रेरित किया कि मेरे बस का मुक्ति नहीं है जब जाकर विदास जी तो नाम लिया उसका पीछा छुटा तो हम ऐसे ही अपनी थोड़ी सी सिद्धि पाकर जो संतान राजी हो जाए का संत के चाड़ा था नो कर दे था नो कर दे था वो पिछली बैटरी चार्ज हो रही थी आखिर में कति जीरो होकर जागा थे और आगे फिर पशु चुनी में जाना है तो बंदी छोड़ महाराज कहें भाई रास्ता पकड़ लो नो बिना नाम गुजारा नहीं होगा